जमाने की पुस्तकों में उसने कुएं का भय और दर्द के होने पर और उनके होने सम्मान प्राप्ति के बाद स्थिति में होना भी सम्मान और सम्मान की उपलब्धि से उसे खोने का भय भी पैदा हो और उसे खोने पर और अधिक संकटों के भय का जन्म इस सूत्र को समझने के पहले इस सूत्र के आसपास सूत्र की पृष्ठभूमि में स्थिति बहुत सी बातों को समझने का जरूरी है सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि न तो सम्मान सत्य है और न असम्मान न तो प्रशंसा सत्य है और न निंदा प्रशंसा तब हमें अनुभव होती है जब हमारे अहंकार को कोई प्रहलाद और निंदा हुए सब मालूम होती है कि हमारे अहंकार को कोई गिराए तो मैं समझता है सम्मान और अपमान दोनों के अहंकार के अनुभव और अहंकार एक असत्य है अहंकार जीवन में सबसे बड़ा सूर्य जो हम हैं उसका हमें कोई भी मतलब पता नहीं जो हमने और जिसका हमें पता नहीं उसी को हम आत्मा नहीं और जो हम नहीं है और मानते हैं कि हम उसी का नाम अहंकार अहंकार एक खासने इकाई इसके बिना हम जी नहीं सकते क्योंकि वास्तविक इकाई हमारे पास नहीं है ये परिपूरक इकाई है हमारा असली मालिक तो हमें पता नहीं इसलिए हमने झूठा मालिक निर्माण कर दिया हमारे असली केंद्र का तो हमें कोई अनुभव नहीं लेकिन बिना केंद्र के जीना बहुत मुश्किल असंभव इसलिए हमने एक झूठा केंद्र निर्माण कर लिया और उसी के बाद हम अपने को चलाया चला सकते झूठे केंद्र का नाम अहंकार है इस झूठे केंद्र को जिन बातों से आनंद मिलता है उन बातों को हम प्रशंसा करेंगे और जिन बातों से दुख मिलता है उन्हें हम निंदा करेंगे क्योंकि अहंकार स्वयं ही एक असत्य है उससे होने वाले सभी अनुभव असत्य हैं लाभ से करता है जब कोई प्रशंसा करता है तब हमें लगता है कि सुख मिल रहा है और जब कोई निंदा करता है तो लगता है कि सुख मिल रहा है और ऐसा लगता है कि कोई दूसरा सुख दे रहा है या कोई दूसरा सुख दे रहा है लेकिन सुख और दुख का मूल कारण हमारे भीतर है वो हमारे अहंकार जिस व्यक्ति का कोई अहंकार नहीं है उससे न तो कोई सुख दे सकता और न तो कोई दुख और जिसे कोई भी सुख दुख नहीं दे सकता वही व्यक्ति आनंद में स्थापित होता हमें तो कोई भी सुख दे सकता है और कोई भी दुख हम तो दूसरों के हाथों में कैद हम तो दूसरे के हाथों में बंधे हमारी लगान सब दूसरों के हाथों में जरा का इशारा और सुख पैदा होता है और जरा का इशारा हमें सुखी होता है जरा सी बात और आंख के आंखों से बदल सकती है और जरा सी बात की है कि कैसे समाधान फैल जाती है हमारे आंसू हमारी मुस्कान बाहर से कोई संचालित करता है लेकिन लाभ से कहता है ये जो बाहर से संचालन हो रहा है इसका भी गहरा कारण हमारे भीतर है वो हमारा अहंकार है अहंकार के कारण ही हम दूसरों से प्रभावित होते हैं चाहे मित्र चाहे शत्रु चाहे प्रशंसा करने वाले और चाहे निंदा करने वाले दूसरा हमें प्रभावित कर लेता है क्योंकि हमारे पास अपनी कोई बात के लिए तो आत्मा नहीं एक झूठा खेल है एक सूर्य संयंत्र है एक मिथ्या खेल है उस मिथ्या केंद्र की बनावट ही ऐसी है कि वो दूसरे के कब्जे में रहेगा इसे थोड़ा तो समझ लेंगे अहंकार आपके कब्जे में नहीं ये कह के हैरानी हो क्योंकि हम सब सोचते हैं अहंकार मेरा है तो मेरे कब्जे है इस भ्रांति में कभी आप मत पड़ना अहंकार आपके कब्जे में नहीं अहंकार दूसरों के कब्जे में इसलिए दूसरे के एक एक शब्द का मूल्य है रास्ते पर चार लोग नमस्कार कर लेते हैं आपकी छाती छूट जाती है और चार लोग गालियां दे देते हैं तो छात्र से कोई बात नहीं चार लोग आपकी तरफ देख लेते हैं प्रसन्नता की आंखों से आपके भीतर फूल खिल जाते और चार लोग आपकी तरफ प्रसन्नता की आंखों से नहीं देखते निंदा की आंखों से लेते हैं आपके भीतर तो की सब सब खुशी बन जाती है सब सुगंध दुर्गंध बन जाती है सब फूल सुंधा के देख जाते ये अहंकार आपके भीतर है लेकिन आपके आंखों में नहीं है अहंकार दूसरों के हाथ में इसलिए अहंकार सदा दूसरों पर निर्भर इसलिए अहंकार सदा में दूसरों की खोज करता है अहंकार अकेला नहीं रह सकता अगर जंगल के एकांत में आपको घबराहट होती है तो आपकी घबराहट नहीं तो आपके अहंकार की दुकान अगर कमरे के एकांत में आपको घबराहट होती है और चेष्टा होती है कि शांति खोजे वो आपकी घबराहट नहीं आपके अहंकार की घबराहट एकांत में अहंकार को मुश्किल हो जाता है जीना अहंकार को प्रतिबल सहारा चाहिए और ये मजे की बात है अहंकार निंदा कर सकता है एकांत में नहीं कर सकता अहंकार निंदा में भी जी सकता है एकांत में नहीं जी सकता अहंकार को प्रपंचन मिले तब तो कहना क्या लेकिन अगर प्रपंचन मिले तो निंदा भी कर सकते लेकिन एकांत एकांत खतरनाक क्योंकि निंदा में भी दूसरा तो मूल्य तो देता ही अगर कोई मुझे गाली देता है तो भी मुझे स्वीकार तो करता ही है और अगर कोई मुझे गाली दिए ही चला जाता है तो मेरी महत्ता को भी अंगीकार करता है मैं कुछ हूं अगर अखबार में एक अपराधी की तरह भी मेरा नाम हो सकता है तो भी अहंकार भी सकता है अगर सड़क से मेरे मामले में जंजीरें डाल के मुझे सारा ग्रह ले जाया जाता है वो तो भी मेरा अहंकार जी सकता है लेकिन अकेले में अहंकार नहीं जी सकता मोहम्मद महावीर या बुद्ध या जीसस के एकांत में जाने का जो मौलिक कारण है वो इस बात की खोज है कि उनके भीतर अहंकार अभी भी बचा नहीं अगर वे अकेले में जी सकते हैं और उन्हें दूसरे की कोई याद नहीं रखी उसका अहंकार विसर्जित हो गया महावीर बारह वर्षों तक के काम किए साधारण का महावीर को मानने वाले सोचते हैं कि समाज को छोड़कर गए थे वो बहुत ऊपरी में जा सकते हैं समाज से महावीर को कुछ लेना देना नहीं महावीर बारह वर्ष इस परख के लिए एकांत में थे कि मेरे भीतर अब भी कोई अहंकार का केंद्र है या नहीं जो समाज के लिए तड़पता जो मांग करता वो दूसरे जब बारह वर्ष के निरंतर परीक्षण से उन्हें साथ में आ गए कि अब उनके भीतर दूसरे की कोई मांग नहीं है तब वे वापस समाज में लौटा अब उनके पास अपनी आत्मा थी अब सड़कों पर कोई फूल माला है उनके ऊपर फेंके या पत्थर मारे इस फूल के भीतर कोई भी फर्क नहीं पड़ता अब वे अपने मालिक थे मालिक ने कहा है कि अब मैं जिन हो गया जिन का अर्थ है अब मैंने अपने को जीत लिया अब तक मैं गुलाम था खुश हो अब मैं जीता हुआ आदमी अब तुम कुछ भी करो तुम मेरे भीतर कोई फर्क न कर पाओगे मैं तुम्हारी पकड़ के बाहर हूं इसे हम ऐसा समझे आपके भीतर जो अहंकार है वह आपके चारों तरफ के लोगों के हाथ में आपके भीतर फैल हुए समाज के हाथ में आपके भीतर फैले हुए इसलिए समाज हर आदमी ने अहंकार को पैदा करवाता है यह कीमती की बात है सभी समाज लोगों को सिखाते हैं विनम्र तो होने के लिए लेकिन सभी समाज अहंकार की शिक्षा देते और मजे की बात यह है कि विनम्रता भी समाजों के द्वारा अहंकार की ही एक व्यवस्था बाप अपने बेटे से कहता है विनम्र करो तो, तो ही तुम्हें सम्मान मिलेगा गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं तुम जितने विनम्र रहोगे जितने सरल रहोगे उतनी प्रशंसा के पात्र बनोगे बड़े मजे की बात है क्योंकि प्रशंसा का पात्र तो अहंकार बनता है दूसरे भी हम अहंकार का भी आभूषण बनाते हैं हम उस आदमी को समाज में प्रतिष्ठा देते हैं जो विनम्र है और प्रतिष्ठा देते हैं इसलिए उससे विनम्र होने में सुविधा भी मिलती है क्योंकि विनम्रता अहंकार का आभूषण बन जाती है समाज बिना अहंकार को परिपुष्ट किए नहीं दे सकता क्योंकि समाज चाहता है आपके भीतर समाज के हाथ होने चाहिए अगर समाज के हाथ आपके भीतर नहीं है तो आप समाज से मुक्त हो जाए कि छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम हर आदमी को अहंकार दिखा रहे हैं बहुत बहुत नुकसान है भले आदमी का अहंकार है बुरे आदमी का अहंकार है साधु का अहंकार है असाधु का अहंकार है और हम भीतर एक केंद्र निर्मित कर रहे हैं जिस पर हमारा कब्जा होगा बाहर के लोगों का लाभ से कहता है कि प्रशंसा हो या निंदा बाहर से आती मालूम होती है लेकिन उसका मौलिक कारण हमारे भीतर होगा जब कोई मुझे गाली देता है तो उसकी गाली नहीं आ सकती मुझे देखा है इसलिए और जब कोई प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा से ग्रहण का प्रयोग मेरी प्रशंसा करता है इसलिए प्रयोग है प्रशंसा हमारा भोजन है निंदा की नकारात्मक भोजन गलत खाने कहा है मजाक में ये सही लेकिन हम सबके भीतर वैसा भाव है धनुषा ने कहा है कि मैं स्वर्ग को भी इनकार कर दूंगा अगर मुझे नंबर दो का स्थान मिले मैं नर्क जानकर भी पसंद करूंगा अगर मैं नंबर एक आप भी अपने मन से सोचिए कि स्वर्ग में नंबर दो जैसे मिलती है तो पसंद करिएगा कि नर्क में नंबर एक जैसे मिलती है आपके भीतर भी वही बात समझना है नंबर एक होने में बेहतर से चाहे वो दर्द की क्यों और ऐसा नहीं है कि ये कोई काल्पनिक सवाल है जिंदगी में हम सब यही कर रहे हैं नंबर एक होने की कोशिश में पूरा दर्द पैदा करते हैं लेकिन नंबर एक होने में तो नर्क को हम जेल लेंगे एक आदमी धन कमा रहा है वो कितना नर्क अपने आस पास पैदा कर लेता है एक आदमी राजनीति की चीजें कर रहा है वो कितना नर्क अपने आसपास पैदा कर लेकिन वो नर्क दिखाई नहीं पड़ता एक ही बात दिखाई पड़ती है कि नंबर एक कैसे हो जाओ लेकिन लाभ से कहता है कि नंबर एक ही हो जाओ प्रशंसा भी मिल जाए सम्मान भी मिल जाए तो भी दुख के बाहर न कर सको क्यों क्योंकि जितनी प्रशंसा मिलती है उतनी ही अहंगार की मांग करता है जितनी प्रशंसा मिलती है उतनी तो मैं स्वीकार कर लेता हूं सेकंड पास ग्रांटेड हो जाता जितनी सम्मान मुझे मिल जाता है उतना तो मैं मान लेता हूं कि मिलना ही चाहिए आदमी ही मैं रहता हूं मान आगे चली जाती आज तक दुनिया में ऐसा आदमी नहीं हुआ जिससे ऐसा अनुभव हुआ हो कि जितना सम्मान उसे मिलता है वो उसके लिए काफी पता लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा हूं लोग समझ नहीं पाते जब लोग पूरा समझेंगे तब मेरी अपनी प्रतिमा अपनी मेरी आंखों में सदा उन सब प्रतिमाओं से जोर से बड़ी होती है दूसरों की आंखों में दिखाई पड़ती है और मेरी प्रतिमा कोई स्थिर बात नहीं है जितना इसे बढ़ावा मिलता है उतनी ही बढ़ती चली जाती है जितनी उसे प्रशंसा मिलती है उतना इसे पानी मिलता है खाद मिलती है और ये प्रतिमा बड़ी होती चली जाती है एक बात निश्चित है कि जो भी इस प्रतिमा को दिया जाए सम्मान ये प्रतिमा उससे आत्मसात कर लेती और आगे की मांग शुरू हो जाए ये मजे की बात है कि जितना भी सम्मान मुझे मिले उससे मुझे आनंद तो नहीं मिलेगा क्योंकि उससे मैं स्वीकार कर लूंगा उससे मुझे दुख जरूर मिलेगा क्योंकि अगर फिर उतना सम्मान मुझे न मिले आज आपने नमस्कार की और कल मुझे नमस्कार नहीं की तो आज जब नमस्कार आप करेंगे तब तो मैं मान लूंगा कि मैं आज ही कहता हूँ कि नमस्कार आपको करनी पड़ी लेकिन कल जब आप नमस्कार नहीं करेंगे तब मैं दुख जरूर पाऊंगा अहंकार को जो मिलता है उससे तृप्ति नहीं होती और जो नहीं मिलता उससे सुख होता है जो मिलता है उसे तो अहंकार स्वीकार कर देता है राजी होता फिर जो नहीं मिलता उससे पीड़ा फिर जो मिल जाता है उससे बचाने का भी बड़ा भारी आकर्षण पैदा होता है जितनी प्रशंसा मुझे मिल जाए कम से कम उतनी प्रशंसा मिलती रहे इसकी तो सतत चेष्टा शुरू हो और तब भय पैदा हो कहीं छिन्न जाए तो आदमी से आदमी का कल मिले ना मिले तो जो मिल जाता है उसे बचाने से सुरक्षा करनी से भय पकाता है और अगर वो ना मिले तो दुख आता है तो लाभ से मिलता है सम्मान मिल जाए तो भी शांति को तो नहीं मिलेगी और आसान हो जाता है और दुखी हो जाता है और निंदा होने तक तो पीड़ा होती ही है निंदा को तो पीड़ा देती है ये भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि निंदा भी उसी मात्रा में पीड़ा देती है जिस मात्रा में सम्मान की अपेक्षा होती है चौदह सौ साल पहले दिन धर्म चीन में प्रवेश किया है भारतीय लाखों लोग उस हृदय में की सीमा पर इकट्ठे हुए जिनका संभार भी उसके चरणों में धन रख के लेकर लेकिन जब उसने आंख में उठा के देखी तो सम्राट खराब हुआ और वे लाखों लोग भी परेशानी में भर गए वो धर्म एक जूता अपने पैर में कर था और एक जूता अपने सिर से रखे हुए सम्राट समझ के मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने एक जूता अपने सिर पर क्यों रख दिया वो भी धर्म लेना संतुलन की दृष्टि मुझे पता चला कि समाज मेरे ग्राम मुझसे करने लगा संतुलित कर लेना होते संतुलन सिद्ध हो जाना एक चिंता मैंने अपने सिद्ध कर दिया तुम्हारे सम्मान को मैं अपने ही हाथों अपनी निंदा करके पहुंच जाता हूं तुमने जो तो सम्मान दिया है उसे नहीं मिला ये लेन देन पूरा हो गया मैंने तुम्हारी प्रशंसा स्वीकार नहीं की और तुम भली भांति जानना अगर कल तुम मेरे सिर पर जूता भी मार दोगे तो निंदा तुम मुझे कुछ प्रयोग नहीं ये जूता रख के मैं प्रवेश भी करना हमारी अपेक्षा ही हमारी निंदा का वजन है मैं कितनी अपेक्षा करता हूँ सम्मान की उतनी ही निंदा में पीड़ा हो अगर मेरी कोई भी अपेक्षा नहीं तो निंदा में कोई भी पीड़ा नहीं रहता इसलिए इसे ऐसा भी समझ ले निंदा की पीड़ा निंदा में नहीं निंदा की पीड़ा सम्मान की अपेक्षा में जब आप मुझे गाली देते हैं तो आप उस गाली में कीड़ा नहीं मिली मैंने सोचा था कि आप नमस्कार करेंगे और गाली मिली इसलिए पीड़ा सम्मान दुख देता है भय देता है और सम्मान की अपेक्षा निंदा में वजन ला देती है निंदा को भारी कर देती है लाभ से कहता है सम्मान और अपमान दोनों से हमें निराशा मिलती है निंदा से तो मिलेगी ही क्योंकि निंदा के पैर उखड़ जाते हैं सम्मान से भी निराशा मिलती है क्योंकि बड़ी निंदा का अपनी मूल कारण है नाव से ने कहा है कि अगर तुम चाहो कि कोई तुम्हारी निंदा न करेगा तो तुम किसी से सम्मान करना वहां बड़ी कठिनाई होती है मन को ये तो हम भी चाहते हैं कि कोई निंदा न करे लेकिन दूसरी शर्त मानने का मन नहीं होता ये कौन नहीं चाहता कि निंदा न की जाए लेकिन लाभ से कहता है अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारी निंदा न करे तो सम्मान की अपेक्षा मत करना ये दूसरी शर्त मानने का मन नहीं होता मगर इस दूसरी शर्त पर सब कुछ निर्भर जरा यूज भर आकांक्षा सम्मान दिया और हजार से निंदा का उपाय हो लाउस ने कहा है तुम सिंहासन पर बैठने की मत नहीं तो नीचे गिरा गिराए हूं अल्लाह से ने कहा है असफल होने में ही राजी हो जाए फिर तुम्हें तो कोई असफल और हार को ही जीत समझ लेना फिर इस जगत में तुम्हें हराने की किसी की लेकिन इसका सत्य लेकिन इसका मौलिक जरूर है यही जरूर है जड़ों की बात है अगर निंदा में चाहिए हो तो सम्मान न पूछना हम भी कोशिश करते हैं निंदा ना करें हम भी तरह से कोशिश करते हैं हमारी कोशिश आत्मघर है निंदा न करे इसकी हमारी कोशिश ये होती है कि हम सम्मान की और व्यवस्था निंदा न मिले मतलब इसका मतलब ये होता है कि सम्मान की जितनी जितनी जरूरत है वो हम पूरी कर रहे लोग जिस ढंग से सम्मान देते हैं हम उस ढंग के आत्मी हो जाए लोग जिस आचरण को सम्मान देते हैं वैसा हमारा आचरण हो जाए लोग जिस तरह के ढोंग को सम्मान देते हैं वैसा ढोंग हम भी आरोपित कर रहे लोग जो चाहते हैं वो हम पूरा कर दें ताकि सम्मान मिले लेकिन लाओ से कहता है कि जितनी तुमने ये व्यवस्था की उतनी तुम कठिनाई में पहुंच जाओ क्योंकि पहले तो बात यह है कि दूसरों के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने आप को भी निर्मित नहीं कर सब इस भांति का निर्माण अभिनय हो जाता है होता आकलन हो जाता है और भीतर से असली आदमी बार बार प्रकट होता रहता है सिर्फ दूसरों की इच्छा से जो अपने को निर्भर करता है वो अगर सम्मान नहीं पा ले तो भी अहंकार के अतिरिक्त और कोई तृप्ति नहीं हो और अहंकार की कोई तृप्ति नहीं हो अहंकार भिखारी का पात्र है उसे हम कितना भी भरे वो भरता नहीं उसकी मांग आगे बढ़ जाती हम जितने मूल्यवान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं वे दोनों ही हमारे स्वयं के भीतर मौजूद हैं हम जिसे महिमान समझते हैं और जिससे भयभीत होते हैं प्रलोभन और भय एक ही सिक्के के दो पहलू ऐसा हम आमतौर से देखते हैं ऐसा हमें सीधा सीधा ख्याल नहीं होता लेकिन जो आदमी लोभ से भरा है वो आदमी भय से भी भरा हुआ होगा लोभी भयभीत ना हो ऐसा हो और जो आदमी भयभीत है वो बिना लोभ के भयभीत नहीं हो सकता इसलिए भयभीत आदमी के भीतर लोभ ना हो ये हो सिर्फ वो भय कोई भी ना हो अगर एक आदमी परमात्मा से भी भयभीत है तो उसका कारण लोभ है कुछ धर्मों ने आदमी को भयभीत करके परमात्मा की तरफ ले जाने की कोशिश की ईश्वर गुरु गाड सेवन हम धार्मिक आदमी को नाम देते गलत है वो तो नाम ईश्वर का भय तो जरूर किसी लोग के कारण नहीं होगा कुछ पाने का लोग कुछ खो ना जाए इस बात पर लोग भी भय पैदा करेगा कभी नर्क में न डाल दिया जाऊ कहीं जन्मों का दुख न छेलना पड़े इस भय से ईश्वर नाराज न हो जाए इस भय से ये सब लोग के ही रूप है ईश्वर के भय से ही जो संचालित हो रहा है वो लोग से ही संचालित हो रहा है और लोभी का ईश्वर से कोई संबंध नहीं हो सकता भीम का भी कोई संबंध नहीं हो सकता ईश्वर की तो संबंध उसका हो सकता है जिसके भीतर लोभ और भय का कोई उपाय न रहा तो मैंने जैसा कहा अहंकार हमारे लोभ और भय का आधार लोभ और भय जिसके भीतर नहीं है उसके और ईश्वर के बीच कोई दीवान न देना इसी क्षण स्वार्थ खुल जा सकता है लेकिन लोभ और भय को हम एक ही शकल में नहीं देखते एक ही चीज के दो पहलू की तरह नहीं देखते लोभ विधायक दिखता है और भय निषेधात्मक दिखता है किसी को हम पुरस्कार की बात करते हैं वो लोग है और किसी को दंड की बात करते हैं वो है और जहां भी पुरस्कार है वहां दंड है और जहां भी दंड है वहां पुरस्कार है स्वर्ग पुरस्कार है नर्क दंड है सम्मान पुरस्कार है अपमान दंड है समाज आपकी लगाम को किसी लोग और भय के आधार पर संचालित करता है समाज देगा सम्मान उस व्यक्ति को जो समाज की मान है समाज देगा दंड उस व्यक्ति को समाज की जो न माने समाज सम्मानित करेगा अगर आप समाज की छाया बन जाए समाज अपमान करेगा अगर आप समाज से भिन्न और ऊपर होने की चेष्टा करें इसलिए समाज सुखरात हो या जीसस को या महावीर को या मोहम्मद को कष्ट देगा तो कष्ट बुजुर्ग स्वाभाविक है क्योंकि ये व्यक्ति समाज से ऊपर होने की चेष्टा करते हैं समाज से ऊपर होने की चेष्टा करते लोग और भय से ऊपर होने की चेष्टा समाज का तो सारा तानाबाना लोग और भय से निर्मित जो भी व्यक्ति इन दोनों के ऊपर होना चाहेगा समाज को खतरा दिखाई पड़ेगा महावीर कहते हैं मैंने सब लोग छोड़ दिया और महावीर कहते हैं मैंने सब भय भी छोड़ दिया ये कब संभव है ये लोग और भय का छूटना कब संभव है ये तभी संभव है जब मुझे दूसरे से कोई मामला लग जाए कोई भी मामला लग जाए जब मैं अपने भीतर इतना आत्मकाम हो जाऊं जब अपने भीतर इतना पूरा हो जाऊं कि मुझे पूरा करने के लिए किसी की भी जरूरत ना रहे तो मैं क्यों या मर जाऊं लेकिन मेरी पूर्णता मेरे भीतर हो तो मेरा लोग और भय विसर्जित हो जाए लेकिन हम बहुत छोटी बड़ी बात पर दूसरे कर मरने अगर कोई प्रेम से मेरी तरफ देख लेता है तो मेरे भीतर दिया मिल जाता कोई घर से देख लेता है दिया मिल जाता मेरे पास कोई अपनी रोशनी नहीं मेरे पास जो कुछ भी है वो सब दूसरों से मिला हुआ उधार मैं एक उधारी हूँ जिसमें दूसरों ने कुछ तो दान दिया है इसलिए मैं भी रहना पड़ता है कभी भी अपनी ही में सोच नहीं तो मेरा भवन गिर जाए इसलिए जीवन में मुझे लिया करने से मुझे भयभीत करना होगा और जो उन्होंने अभी मुझे नहीं दिया है उसके लोभ से भरा रहता हूं कि वो भी मुझे मिल जाए इस भांति कभी अपने को की कोशिश करें कि आप ये एक महान है जिसमें दूसरे लोगों ने आनंद दिया कुछ पुरानी यहूदी बस्तियों में एक नियम था कि जब भी कोई नया यहूदी बस्ती में आए तो सारा गांव एक एक रुपया अगर दस हजार लोग होते तो दस हजार रुपये होते नहीं जाते उसकी जिंदगी की प्रतिमा बन जाती मकान बन जाता उसको दुकान बन जाती फिर दोबारा कभी कोई नजर में आया आदमी आया इस आदमी को भी उसे एक रुपया देना बढ़िया सामाजिक व्यवस्था थी गाँव में कोई आदमी गरीब नहीं रह सकता लेकिन इस घटना को मैं किसी दूसरे प्रयोजन हो जाता हम भी इस जिंदगी में आते हैं और चारों तरफ से थोड़े थोड़े टुकड़े हमें दिए जाते हैं उन लोगों के आधार पर हम भीतर आधार पर भवन निर्माण करते हैं कुछ पिता देते हैं कुछ माँ करती है कुछ भाई बहन देते हैं पुस्तक की झांकी गांव के लोग पड़ोस के लोग देते हैं और उन सब से हमारे भीतर अहंकार का भवन नहीं हो सिर्फ भय बना रहता कोई भी कभी एक मुझे पूछ ले इसलिए हिंसा हमें मिलता है उन सब में भय भी लगा रहा है डर भी लगा रहा कभी भी जो दिया है वो वापस दिया जा सकता है और ये नहीं दिया था उस पर उनके रूप में मिल जाए ये लोभ और भय हमारे भीतर है और इस लोभ और भय के हम जो भी संबंध निर्माण निर्मित करते हैं जीवन में वे सभी हमें दुख लाएंगे उनसे कोई से भी सुख आने का कोई उपाय नहीं क्योंकि पर्सन का गहरे से गहरा दुख है और अगर मेरी आत्मा भी उठा है और केवल दूसरों के टुकड़ों से ले लेती तो तो है पिकासो ने एक राजनीतिक का बहुत समय पहले चित्र बनाया खूबी का उस चित्र को उसने रंगों का उपयोग नहीं किया केवल अखबार की पत्रों का उपयोग किया अखबार के टुकड़े का काट कर दिया केंद्र से शिक्षा दिए थे और राजनीति का चिपका पहली बात राजनीति के बाद अखबार की कदम में अलावा कुछ होता नहीं वही उसकी आत्मा है अभी आप समझ गए राजनीति पक्ष होकर जाता है अखबार में समस्या बंद हो जाती है तब आपको ये भी पता लगाना मुश्किल है कि वाद में कब हो गया आपको अब आखिरी बार उसकी खबर तभी लगेगी जब वो मरेगा इस आपको ये भी पता लगाना मुश्किल है कि वाद में जिंदा है या मर अब एक ही खबर आप सकेगी अखबार के टुकड़ों का जो लेकिन राजनीतिक ही ऐसा ऐसा नहीं हम भी सब इस दूसरे से जोड़ अगर मैं आपसे कहूँ दूं कि आप हाँ, सुंदर नहीं दिखाई पड़ते मुझे तो आप कोई दिन निरल क्यों हो जाते हैं जब मैं कह दूं कि आप जोड़ते तो आप कोई दिन निरल क्यों हो जाते हैं आपको आपके सौंदर्य का कोई पता नहीं लोगों ने जो कहा वही आपका सौंदर्य नहीं था मैं अपनी बातें सोच लेता हूँ मैं कहता हूँ मुझे आप सुंदर नहीं मालूम सांस के बगल में दरार पड़ जाए और भय पैदा हो आगे एक आदमी ने खींचा है पर दो आदमी सुंदरी के साथ मैं आपको बुद्धिमान मानता हूँ तो आपको बुद्धिमान और अगर मैं आपको बुद्धू है तो आपको होता है नाराजगी क्यों पैदा होती है नाराजगी इसलिए पैदा होती है कि आप मेरे भी सहारे बुद्धिमान अगर बुद्ध को कोई कहते दे कि बुद्धिमान नहीं तो बुद्ध हंसते उस गांव से निकल जाए किसी और के कारण बुद्धिमान नहीं अपने ही कारण जो भी हमारी पीड़ा क्या है निंदा हमारी पीड़ा यही है कि हम अपने भीतर कुछ भी नहीं दूसरों तो ने जो बनाया है वही तो चार आदमियों के मत पर निर्भर हमारा ये हमारा अहिंसा लोगों के मतों से तय हुआ लोग करते इसलिए हम बहुत करते इस बात से कि लोग क्या तो नहीं दूसरा और कुछ नहीं है ध्यान कर लोग मेरे पास आते हैं ये लोग कौन ये लोग नहीं जिन्होंने आपका बलिदान नहीं किया आपको भय होगा तो कहीं वो अपने स्थान में बदल देंगे कहीं वो ये ना कहने देंगे कि अब तुम पागल मान क्या कर रहे तो हमारे आठ लोगों के हाथ उधार करती है वे जो कहेंगे भैया वो देना जो जो कह रहे हैं वही हम हमारा अपना कोई होना हमारी कोई प्रमाण सत्ता कोई ऑथेंटिक एक्सिस्टेंस है जैसे हम कांग्रेस की कथन के लोगों के मतों का संग्रह लेकिन अभी जैसे तो हमने इसलिए निंदा पीड़ा देती है क्योंकि निंदा हमें हमारे भवन को गिरा प्रसन्नता सुख से भी मान सकती जो कि भवन में मैंने सुना बैंक का एक रात एक सिनेमा ग्रह से सही ठीक सिंह को बता अंदर जाकर सिनेमा ग्रह रक्षण समाप्त हुई मुसलमान को सम्मान देने के लिए इतनी की फिल्मों में काफी में मुसलमान का चित्ता करता सारे लोग खड़े होकर मुसलमान का जयंकार करते सारे लोग खड़े होकर मुसलमान का जयंकार करते सब आकर मुसलमान को बैठा बहुत प्रसन्न हुआ कि सारे लोग जयंकार करते शाम के व्यक्ति से उसने पूछा बहुत आनंद मुझे आता है आदमी ने कहा होगा कि तुम का तो आनंद मनाओ क्योंकि आनंद न बहुत महंगा खतरनाक दूसरी इच्छा तो मेरी जिस कारण तुम बैठे हो कारण से मैं भी बैठा था लेकिन तुम हो कौन तुम्हें आज पता नहीं मुस्लिम हो इच्छा तो मेरी ही नहीं होती कि जैसे तुम शांत करता कार्य करता मैं भी करता हूँ मुझे स्मरण करके बोलने जा रहा था और उसकी गाड़ी गाड़ी रास्ते पर लेकिन टैक्सी वाला कहा मैं नहीं ले सकूंगा क्योंकि सब लोग ये रेडियो पर टैक्सी का राजस्थान तो तो का किसी का कि ड्राइवर इंकार कर रहा है ले जाने से सवारी को पर हम लोग ये बात पर समाज के लिए और खुद को लेकिन चलना जरूरी है आगे जैसे चंद्र पूछते थे कैंसर का क्या प्रॉब्लम है इस आदमी का बाल हो गया है एक क्षण पहले इस आदमी में सक्सेस हो जग खुला दिया होगा लेकिन मेरा चरित्र को भी विस्तार में लगा है कि जनातियों का खून जाना मुझसे को नहीं ये चक्र की ड्राइवर के हाथ में ये उनकी चक्र अपने हाथ में नहीं ये चक्र की ड्राइवर के हाथ में हमारे अंदर कुंजी बची सब कुंजी बची अब जिसे हम मालिक कहते हैं वो भी अपने गुलामों से हाथ मत की पूछने लगे ये जो स्थिति है इस स्थिति के लिए जो सूच है हम जैसे मूल्यवान समझते हैं और जिससे भैजन होते हैं वे दोनों ही हमारे स्वयं के ही करते हैं सम्मान और अपमान के संबंध में ऐसा करने का यह अर्थ है सम्मान प्राप्ति के बाद नई स्थिति में हमें अपमान अपने आप में अगर कोई व्यक्ति सम्मान की स्थिति में रहा है तो उसके नहीं की स्थिति स्थिति में अपमान तो जब भी हम कोई स्थिति खोज रहे हैं हम सारी अपमान की स्थिति ही खोज रहे हैं जब भी हम ऊपर चल रहे हैं तब हम नीचे चलने की स्थिति ही खोज रहे जब भी हम किसी भी घटना में किसी भी मार्ग से किसी भी धन से अपने अहंकार को भर रहे तभी हम इससे विपरीत भी रास्ता निर्मित कर रहे हैं वो जो विपरीत रास्ता निर्मित होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है जब ये सम्मान के कि पर पड़ता हूँ तो मुझे ये दिखाई नहीं पड़ता रहा कि मैं अपने जीवन का उपाय नहीं कर रहा मैं क्यों कर रहा और जब मैं गिरूंगा तब मैं जिम्मेदारी दूसरों पर रखूंगा और जब मैं चलता हूँ तब जिम्मेदारी हर सुनने के बाद जिम्मेदारी है हर पहाड़ के बाद खाली है हर खाइयों को मिलेगा जब कोई पहला ऊंचा होने की कोशिश कर रहा है तो उसके बाद जब कोई सफलता का शिखर चलता है तो अपनी चाहों पर वो प्रतिपल चल रही है इससे बचने का कोई उपाय नहीं इससे बचने का एक ही उपाय है कि शिखर पर चढ़ने की बात ना हो जो गिरने से बचना चाहता हो वो जरूर ये थोड़ा कठिन है क्योंकि चढ़ना हम सब चाहते हैं गिरना हम नहीं चाहते दूसरे हिस्से को हम स्वीकार नहीं करते जन्म होता है तो मृत्यु को स्वीकार नहीं करते जन्म के साथ मृत्यु होने का Presumably, our pussy didn't manage my little pussy. लेकिन जीवन भर में कोशिश करूंगा कि मौत मेरी कोशिश से कभी हल होने वाला नहीं क्योंकि जन्म के साथ ही मौत घट गई वो गरुड़ की घटना नहीं है वो भी अभी सारी हिंसा हो गई क्योंकि एक छोर नहीं हो सकता सफलता के साथ ही असफलता भी और संबंध के साथ ही निंदा भी ये बहुत अच्छी की बात है जितने ज्यादा लोग सम्मानित होते हैं ठीक उनके आसपास में निंदा का मतलब क्या कोई और उपाय नहीं सम्मान ऐसा आदमी खोजना कठिन है जगत में जिसने प्रशंसा की पाई हो और निंदा नहीं समाजों को छोड़ दें राजनीतिकों को छोड़ दें धनपतियों को छोड़ दें उन्हें तो निंदा मिलती है लेकिन महावीर की दुख है या कृष्ण और क्राइस्ट को दें चाहे उन्होंने सम्मान न चाहा हो और चाहे उन्हें निंदा से कोई भी फर्क न पड़ा हो लेकिन लोगों ने सम्मान दिया है तो लोगों ने अपमान भी किया और उन दोनों की मात्रा बराबर उस मात्रा में कमी नहीं हो सकती कृष्ण को अगर एक तरफ भगवान मानने वाले लोग हुए तो एक तरफ कृष्ण को नर्क में डालने वाले लोग अगर एक और बुद्ध को लोग कहेंगे परम ज्ञानी तो बुद्ध को परम अज्ञानी करने वाले लोग भी होंगे और अगर एक तरफ जीसस को लोग ईश्वर का पुत्र कहेंगे तो ठीक दूसरी तरफ जीसस को सूली पर लटका देने वाले लोग भी होंगे और जब जीसस को सूली पर लटकाया तो लटकाने वालों ने दो और लोगों को भी साथ में सूलियां देखी दो चोरों को जीसस को बीच में लटकाया तो दोनों चोरों को दोनों बहुत लटकाया चोरों के साथ सूझे देते थी ताकि ये भी भ्रम न रह जाए कि जीसस को हम कोई पैगम मान के सूझ नहीं दे रहे एक आवारा समाज परिस्थिति में एक उपद्रवी एक विकसित आदमी समझ के सूझी दे रहे लाउसे से अगर कोई पूछेगा तो लाउस से कहेगा कि ये होना नहीं था ये होगा ही जीसस को कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए जीसस लोग सुखी और दुखी नहीं होते लेकिन जीसस के शिष्य बहुत दुखी हुए जब जीसस को सुनी नहीं क्योंकि जीसस के शिष्यों का ध्यान था ईश्वर का पुत्र उसको सुनी रहते लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जब उन्होंने ईश्वर का पुत्र घोषित किया तभी दूसरा वर्ग भी संतुलन करने को जगत में निर्मित होता जगत एक जटिल संतुलन है यहां हम सब देखेंगे हमें असंतुलित होती है असंतुलन कभी भी नहीं हो पाता क्या कोई उपाय है लास्ट के हिसाब से एक ही उपाय है और वो उपाय ये है कि जो हमारी खोज है उसमें हम दुर्ष को भी देखें और जब आप सम्मान खोजते हो तो ठीक से समझ लें कि आप अपमान भी खोज रहे हैं जब आप लोभ करते हो तब तो ठीक से सोच लें कि भय को पैदा कर लें जब आप प्रेम पालन करते हो तो ठीक से समझ लें कि आपने घृणा की हुई मांग उपस्थित कर ली जब आप जीवन को जोर से पकड़े तो समझ लेना अब आप मौत को जोर से पकड़ विकृति का दर्शन से का बुनियादी सूत्र है नाम से कहता का हर घड़ी वो जो विपरीत है उसे भी देख लेना एक को ही मत देखना जीवन द्वंद है दूसरे को भी ठीक से लेना और वो दूसरे से बचना करोगे जिसने एक को चुना उसने दोनों को चुन लिया और जिसको दोनों से बचना हो उसे एक को भी नहीं चुनना चाहिए लाउड से को उसके मुल्क का गंधा प्रधानमंत्री बनाना है लाउड जब आपका प्रचार एक गांव से दूसरे गांव जब दूसरे गांव में सम्राट के लोग पहुंचते तो पता चलता है कि तीसरे गांव से चला गया सम्राट के हैरान था प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुकता थी उसकी और यह आदमी भाग क्यों रहा आखिर सम्राट ने एक संदेश वहां भेजा अल्लाह से सका व्यर्थ भागो मत परेशान मत हो इतना भी मुझे बता दो कि मैं तुम्हें एक महान सम्मान के पद पर बिठाना चाहता हूँ इस राष्ट्र का बड़े से बड़ा सम्मान तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहता तुम भाग को रहे हो लाभ से मैं खबर भेज रहा है कि सम्मान से मैं नहीं भाग रहा हूँ मैं उस अपमान से भाग रहा हूँ सम्मान से भी लेकिन वो दूसरा हमें दिखाई नहीं पड़ता उस दूसरे को देख लेना भी बनता है हर जगह कोई एक आयाम नहीं सभी आयाम में दूसरा सदा मौजूद है अगर कोई व्यक्ति जीवन को ऐसा बना दे तो उसे हर जगह ये में दिखाई पड़ जाए और ध्यान रहे अगर बंद का दर्शन हो जाए तो वासना क्षीण हो जाए बहुत लोग समझाते हैं वासना छोड़ दो इच्छा छोड़ दो लेकिन के का सूत्र बहुत गहरा है वो नहीं कहता इच्छा छोड़ दो वो कहता है इच्छा के जो डिग्री है उसको भी ठीक कर दो इच्छा छूट जाएगी अगर मुझे सच में ये दिखाई पड़ जाए बनाना शत्रु बनाने का उपाय है अगर ये सच में मुझे दिखाई पड़ जाए इसमें धोखा न हो ये बौद्धिक समझ ना हो ये ऊपरी ऊपरी ना हो ये गहरा और प्राणी में उतर जाए और मुझे दिखाई पड़ जाए कि मित्र बनाना शत्रु बनाने का पहला चरण है तो मित्र न बनाओ ऐसी कोई चेष्टा न करनी पड़ेगी कि बंदे एक मित्र की बात सामने लेनी चाहिए मित्र बनाना तो मेरे हाथ में शत्रु न बनाना तो मेरे हाथ में नहीं अगर मैंने पहला कदम उठा लिया तो दूसरा कदम मेरे हाथ में नहीं पहला कदम मतलब उठा लिया चाहते हुए दूसरा कदम उठने समझ वो हमारे हाथ में नहीं है सफलता मैंने मान ली वो मैं न मानता वो मेरे हाथ में लेकिन असफलता से मेरे हाथ के बाहर सम्मान मैंने चाह लिया वो मेरे हाथ में दूसरी चीज मेरे हाथ में नहीं बुद्ध ने बहुत मजे की बात कही बुद्ध ने कहा मृत्यु की फिक्र छोड़ो जन्म से बचने की कोशिश करो क्योंकि जन्म जो गया तो फिर मृत्यु हाथ में नहीं बुद्ध के पास एक ब्राह्मण अब ब्राह्मण कह रहा है मुझे जन्म मरण से कैसे छुटकारा मिलेगा तो बुद्ध ने कहा मरण मरण पर छोड़ तू जन्म से ही छुटकारा करना आमतौर से हम कहते हैं जन्म मरण से कैसे छुटकारा मिले मरण आपके हाथ में नहीं उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते आपके हाथ में ज्यादा सुख है जन्म उससे आप छुटकारा पा सकते और जन्म ना हो तो मरण का कोई उपाय नहीं रहता ने कहा तू यही जिक्र कर कि जन्म कैसे ना हो जन्म क्यों होता है साधु की समझ नहीं आया क्योंकि वो जो कह रहा था जन्म मरण से छुटकारा हो जन्म का उसे ख्याल नहीं था असल में मरण से ही छुटकारा उसने कहा कि मृत्यु से बहुत भय लगता अंत इसलिए लोग छुटकारा चाहता तो वो आदमी जन्म से छुटकारा नहीं चाहता वो में ऐसा जन्म चाहता है जहां पर मृत्यु न हो वो ऐसा जीवन चाहता है जिसमें मृत्यु न हो वो जन्म से छुटकारा नहीं चाहता और मृत्यु से छुटकारा हम भी हमारे सबके सोचने का यही भ्रांत ढंग है लोग मेरे पास आते हैं अपने रूप से कैसे छुटकारा हो नहीं हो जब तक कि वो मुझसे पूछने ना आएंगे सुख से कैसे छुटकारा तो क्योंकि सुख चुनाव है दुख परिणाम सुख मेरे हाथ में दुख मेरे हाथ में नहीं ऐसा समझे कि मैं दौड़ू और फिर मैं कहूंगी मेरे पीछे जो छाया दौड़ती है वो ना दौड़े इस छाया से दौड़ने से कैसे छुटकारा हो तो मैं कहूंगा मेरा दौड़ना ना दौड़ना मेरे हाथ में लेकिन मेरी छाया का दौड़ना ना दौड़ना मेरे हाथ में मैं ना दौड़ू छाया ना दौड़ेगी मैं दौड़ू तो फिर छाया को नहीं दुख छाया सुख चुनाव सम्मान चुनाव है अपमान छाया है परिणाम हम सभी परिणाम से बनना चाहते हम बीज बोलते हैं पानी डालते हैं खाद डालते हैं और पौधा अंकुरित न हो इस विशेष स्थान में सारी चेष्टा करते हैं कि पौधा अंकुरित हो और मन में रहता है कि पौधा अंकुरित हो बोलते हैं सुख सुख उसका भी अनुभव है लेकिन ये दोनों इकट्ठे नहीं दिखाई पड़ते जिससे दिखाई पड़ते हैं वो आदमी धार्मिक होता धार्मिक मेरी परिभाषा यही है कि जिससे द्वंद में दोनों दिखाई पड़ते एक ही दिखाई पड़ना लगता सुख और दुख एक ही चीज के बिछोर हो जाता सम्मान अपमान एक ही चीज के बिछोर हो जाता और ध्यान रहे ये जैसे ही दिखाई पड़ता है वैसे ही मुझे पता चल जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ कहां तक मेरी सामर्थ्य और कहां से मेरी सामर्थ्य समाप्त हो जाए मैं अपने हाथ में एक धनुष्वान दिए खड़ा हूं जब तक तीर मैंने नहीं छोड़ा है मेरे हाथ में छोड़ देने के बाद फिर मेरे हाथ में मेरे भीतर एक शब्द बना हुआ जब तक मैंने नहीं बोला तब तक मैं मालूम मैंने बोल दिया फिर मेरी मालूम पहला कदम सुख सम्मान सत्कार इतना दूसरा कदम अनिवार्य फिर दूसरा कदम नहीं बदलेगा लाभ से कहता है अगर ये दोनों दिखाई पड़ जाए तो क्या होगा परिणाम अगर ये दोनों एक साथ दिखाई पड़ जाए एक ही दिखाई पड़ जाए जीवन से वासना करो क्योंकि कोई भी दुख नहीं चाहता हालांकि सभी को दुख मिलता है और कोई भी दुख नहीं चाहता सभी सुख चाहते हैं और किसी को सुख मिलता नहीं और आदमी को सब गलत भी नहीं लगा कोई दुख नहीं चाहता जगत में और सभी दुखी है और सभी लोग चाहते हैं और कोई आदमी छाती के हाथ रख के नहीं कर पाता तो कहने के लिए कोई बुनियादी भूल हो रही और वो बुनियादी भूल एक से नहीं हो रही शायद सभी से हो रही वो भूल यही है दुख को कोई भी नहीं चाहता सुख को सभी चाहते हैं सुख को चुनते हैं और सुख परिणाम सुख की तरफ दौड़ते हैं और दुख हाथ में आता है जिसे सुख से बचना है उसे सुख से बचना सीखना पड़े यही साधना है सुख से बचना सीखना वक्त मालूम है लेकिन इतना कठिन नहीं है जितना दुख जब रास्ते से मुझे कोई नमस्कार करें तभी मुझे बच जाना चाहिए तभी मुझे देखना चाहिए कि कभी कौन जनाना संसारी तभी नमस्कार मुझे उसी प्रतिबंध की सुन लेनी चाहिए जो विपरीत है तो मैं बच जाऊंगा जरूरी नहीं है कि गाली ना मिले गाली तो मिल सकती है लेकिन सब मेरे लिए अंत में मेरे भीतर उससे कोई अंतर नहीं बढ़ेगा तब गाली देने वाली की और नमस्कार करने वाली की क्रिया नहीं होगी वे उनकी ही होगी उनसे मेरा कोई संबंध नहीं जुड़ेगा मेरा संबंध न जुड़े तो मैं मुक्त हो गया और ऐसी मुक्ति में आनंद की धारा अवतरित होती लॉस में बहुत गहराई है मनुष्य के बंधन की चर्चा कर रहा है यदि मुझे इन दोनों में सुख और दुख में सम्मान और अपमान में प्रशंसा और निंदा में एक का भी दर्शन होने लगे जन्म और मृत्यु में एक की भी झलक होने लगे तो जगत के प्रति दौड़ती हुई वासना के लिए कोई गलती नहीं रह जाएगी अल्लाह इस नाम की लड़की स्वर्ग में पहुंचती है परियों के देश रानी के पास खड़ी है वृक्ष के नीचे खड़ी कहना ठीक नहीं कि तो दोनों दौड़ रही रानी भी दौड़ रही है अल्लाह भी दौड़ रही है घंटों दौड़ने के बाद अल्लाह अलाइट ऊपर देखती है वृक्ष जहां था वही है और वे दोनों भी जहां से वही कहीं कोई फर्क नहीं हुआ अब पसीने पसीने हो गए तो अल्लाह की रानी से पूछती है दिन भर हो गया दौड़ते दौड़ते थक गए अजीब है तुम्हारा मुल्क इतने दौड़कर भी और कहीं पहुंचना नहीं हो रहा वृक्ष बनी के वही हो वही के उससे कहती है इतने दौड़ने के कारण वही के वही अगर न दौड़ते तो वो क्या हालत होती इतना दौड़ने के कारण वही के वही सोच न दौड़ते तो क्या हालत होती हम सारे लोग भी दौड़ते थे जिंदगी पर और वही के वही कर रहे थे और हमारे मन में भी यही तर्क होता है जितना दौड़ के भी मन के वही कर रहे थे अगर न दौड़ते तो और मजियत होती इतनी सम्मान की कोशिश की तब भी तो इतना अपमान मिला अगर सम्मान की कोशिश न करते तो क्या हालत होती इतना धन खो जाए फिर भी निर्धन से निर्धन बने अगर खोजते ही ना तब तो वर्ष हो जाए लेकिन लाभ से अगर अलाइव पूछती तो लाभ से जाता मन दौड़ और रुक से देह क्योंकि जब दौड़ के लिए यही चीज से बनी और कहीं पहुंचना नहीं होता तो रुक कर भी देख लेना चाहिए सारी दुनिया बस दो ही तरह के फर्क किए एक तो यह अलाइंस को परियों की रानी ने जो फर्क दिया ये सामान्य बुद्धि का तर्क है जो सदा यही करती है निकटी कितनी मेहनत उठाते इतना दौड़ है ये कंकर पत्थर हाथ लगे हैं अगर बिल्कुल न दौड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगी दौड़ते तो रहो दूसरा कर्म बुद्ध और महावीर और नाउस से का है वो कहते हैं लोग के भीतर हो दौड़ो ही मत रानी से अल्लाह फिर पूछती है तो इस वृक्ष से आगे जाने के लिए क्या किया जाए रानी ने बहुत मजेदार बात करी और बात यह है रानी ने उससे कहा कि जितनी तुमने ताकत जितनी तुम दौड़ सकती हो अगर उतनी ताकत से तुम दौड़ो तो इस वृक्ष के नीचे बने रहने के लिए काफी जितनी तुमने ताकत है अगर उसकी पूरी ताकत लगा के दौड़ो तो तुम इस वृक्ष के नीचे बने रहो अगर इससे आगे जाना तो उससे दुगनी ताकत से दौड़ना जरूरी है लेकिन उससे दुगनी ताकत हो सकती तो रानी ने कहा कि जितनी तुम में ताकत है अगर पूरी ताकत से दौड़ो तो इस कष्ट के नीचे बन जाओ अगर इससे आगे जाना है तो दुगुनी ताकत से दौड़ो जरूरी बेमानी है कोई ऐसा नहीं है क्योंकि दुगुनी ताकत का कोई प्रयोजन ना रहा जब पूरी ताकत से दौड़कर यही बने रहोगे तो दुगुनी ताकत का से आएगी लेकिन अलाइस को भी शर्त देखा उसने कहा ये बात ठीक है तो हम दुगनी ताकत से दौड़ने की कोशिश करें हमको भी यही जगता है जब हमें जीवन में सम्मान की हम बहुत कोशिश करते हैं और सम्मान नहीं मिलता तो हम सोचते हैं और दुगनी ताकत से कोशिश करें यह चाहते हैं और नहीं मिलता तो सोचते हैं और पूरी ताकत लगा दें शायद ताकत कम नजर लग जाए लेकिन ध्यान करें जितनी ज्यादा ताकत यश के लिए लगाई जाएगी उतना ज्यादा अपने जितनी सत्ता और सम्मान की चेष्टा की जाएगी उतना ही असम्मान और असुविधा रहेगा क्योंकि जीवन द्वंद के बीच एक बंधन क्या हम खड़े रहते हैं क्या हम रुक जाएंगे दौर से नाव से भी सत्ता की रुक जाएंगे इससे थोड़ी बारी बात है इसे भी थोड़ा ख्याल में ले लेना चाहिए कि लाभ से नहीं चलता कहीं लोग चले क्योंकि लाभ से चलता है कि अगर हम रुकेंगे नहीं तो वो भी हमारे लिए दौड़ होगी किसी लोग के कारण अगर हम रुकेंगे तो इस वजह से किसी चीज में फिर निंदा नहीं मिलेगी अपमान नहीं चलेगा असफलता नहीं मिलेगी अगर हम रुकेंगे तो हमारे मन में वही लोग सम्मान का यश का प्रतिष्ठा का सफलता का धन का अमृत का बना रहे नाव से कहता है मैं रुकने की नहीं करता मैं तो दौड़ने की व्यर्थता को देखने की नहीं करता उसके परिणाम में रुकना होता है रुकने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती बुद्ध से कोई पूछता है क्या हम इच्छाओं को छोड़ दें तो शांति मिलेगी तो बुद्ध कहते हैं ये नई इच्छा ये नई इच्छा तो बुद्ध कहते हैं ना हमें इच्छा छोड़ने को नहीं कहता इच्छाओं को समझने को मिलता हूं तो क्योंकि अगर तुम समझ लोगे तो तुम इच्छा नहीं कर पाओगे तब तुम ऐसा नहीं पूछोगे कि क्या मैं इच्छा छोड़ दू तो मुझे शांति मिलेगी ये शांति भी इच्छा का एक विषय बन जाती है इच्छा जब नहीं होती तब जो होता है सनातन शांति और जब सुख दुख की कोई खोज नहीं होती तब जो होता है सनातन लाभ से का तो सूत्र बहुमूल्य है और इस सूत्र को प्रयोग करने के लिए न तो किसी विशेष साधना में लिए की जरूरत है नाम की क्रिया क्रियाकांड में परिणित होते इस सूत्र को तो आप चलते उठते बैठते काम करते सोते खाना खाते बाजार में निकलते दुकान पर बैठते पूरा कर सकते सिर्फ इतना ही ख्याल रखें पहला कदम आप में उठाए दूसरा कदम कभी नहीं उठेगा पहले कदम पर पहले हो जाए दूसरे कदम से छुटकारा हो जाए पहले कदम उठाने से अपने को देखने की कहा आप जा रहे हैं श्वास प्रत्येक के घर बच्चा का दम होगा उसके घर जा रहा चौड़ करते कि घर बच्चा पैदा हुआ और चौड़ करते बाहर अपने दरवाजे में बैठकर छाती पीट कर रोने लगा के लोग धन्यवाद देने आए थे उन्होंने चांद से ही तो तुम क्या कर रहे हो चांद कसे ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा पहला कदम की जरूरत है समय समझ मैंने जन्म में मदद की सिर्फ चार कदम की पत्नी में कई वर्षों बाद सम्राट आया तब वो अपने छाड़ में बैठ कर झकड़ी बजाकर जीतता सम्राट को प्रकट करने आया उसने कहा कि पागल हो स्वामी से दुखी मन हो इतना भी काफी है लेकिन गीत गाने का कोई मौका नहीं शांत से ने कहा एक बार मैंने जन्म नंबर की देखी थी इस बार मैंने जन्म को देखी सूत्र को जीवन के सारे पहलुओं पर देखते रहे और धीरे धीरे आप पाएंगे कि बहुत कुछ बिना छूट गया बहुत कुछ बिना प्रयास से गिर गया और एक दिन अचानक आदमी पाता है कि वो खड़ा गौ बंद हो गए और एक दिन अचानक पाता है वो अहंकार जो दूसरों के सहारे जन्म था बिखर गया है और उसके शिखर से ही उसकी स्मृति की शुरू होती है जब हमारा वास्तविक अस्तित्व हमारे पास में आज मिलन पांच मिनट रुक सबके जिन मित्रों को भी जिन सन्यासियों को कीर्तन माना तो है और आप लोग भी कोई सुंदर होना चाहे तो नीचे बैठ नीचे आ जाए बैठे हुए होते भी ताली बजाए और कितना में